शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे हालांकि अल्लाह ही इसका ज्यादा मुस्तक है कि उससे डरो फिर जब जैद ने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया यानी उसको तलाक दे दी तो हमने उसे तुम्हारी जोजियत में दे दिया ताकि मोमिनों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो बेटे उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे और अल्लाह का हुक्म वाक होकर रहने वाला था पैगंबर पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्र कर दिया और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका था यानी उन पैगंबरों में जो अल्लाह के पैगाम जू के तू पहुंचाते और उससे डरते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे और अल्लाह ही हिसाब करने को काफी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूत को खत्म कर देने वाले हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है ए अहले ईमान अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है जिस रोज वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है ए पैगंबर हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और चराग रोशन और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना और न उनके तकलीफ देने पर नजर करना और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसास काफी है मोमिनों जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ हक नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ बस उनको कुछ फायदा यानी खर्च दे दो और उनको अच्छी तरह से रुख्सत कर दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं और तुम्हारी बांधियां जो अल्लाह ने तुमको कुफ्फार से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूपियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं सब हलाल हैं और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे यानी मेहर के बगैर निकाह में आना चाहे बशर्ते के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे निकाह करना चाहें वो भी हलाल है लेकिन ये इजाजत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है सब मुसलमानों को नहीं हमने उनकी बीवियों और बांदियों के बारे में जो मेहर वाजिब अदा मुकर्र कर दिया है हमको मालूम है यह इसलिए किया गया है कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको यह भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो पीछे रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो और जिसको तुमने पीछे कर दिया हो अगर उसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुना नहीं ये इजाजत इसलिए है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा न हो और जो कुछ तुम उनको दो उसे लेकर सब खुश रहें और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है और अल्लाह जानने वाला है बुर्दबार है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं और न ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां कर लो खा उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी बांदियों के बारे में तुमको इख्तियार है और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है मोमिनो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में न जाया करो मगर उस सूरत में कि तुमको इजाजत दी जाए यानी खाने के लिए बुलाया जाए जबकि उसके पकने का इंतजार भी ना करना पड़े लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी लगा कर ना बैठ रहो ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देती थी और वो तुमसे हया करते थे और कहते नहीं थे लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने से नहीं शर्माता और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए बहुत पाकिजगी की बात है और तुमको ये शाया नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो और न ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो बेशक ये अल्लाह के नजदीक बड़ा गुनाह का काम है अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसको मख्फी रखो तो याद रखो कि अल्लाह हर चीज से बाखबर है खातन पर अपने बाप दादा से पर्दा न करने में कुछ गुना नहीं और न अपने बेटों से और न अपने भाइयों से और न अपने भतीजों से और न अपने भांजों से न अपनी सी खातन से और न अपने बांदी गुलामों से और ए खातन अल्लाह से डरती रहो बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है अल्लाह और उसके फरिश्ते इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं मोमिनो तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाते हैं उन पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला असाब तैयार कर रखा है और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें तो उन्होंने बोहतान का और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें यह चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी तो कोई उनको ईजा न देगा और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपनी हरकतों से बाज ना आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे फिर वो तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे मगर थोड़े दिन वो भी फिटकारे हुए जहां पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी अल्लाह की यही आदत रही है और तुम अल्लाह की आदत में तगैर तबद्दुल न पाओगे लोग तुमसे क्यामत की नस्बत दरियाफ्त करते हैं कि कब आएगी कह दो कि उसका इल्म अल्लाह ही को है और तुम्हें क्या पता हो सकता है क्यामत करीब ही आ गई हो बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते और कहेंगे कि अय हमारे परवरदिगार हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से भटका दिया ए हमारे परवरदिगार उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर मोमिनो तुम उन लोगों जैसे न होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुंचाया तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित कर दिया और वो अल्लाह के नजदीक आबरू वाले थे मोमिनो अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मावरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा हमने बारे अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए और इंसान ने उसको उठा लिया बेशक वो बड़ा जालिम बड़ा जाहिल है ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरक मर्दों और मुशरक औरतों को अजाब दे और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे और अल्लाह तो बख्शने वाला है मेहरबान है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और आखिरत में भी उसी की तारीफ है और वो हिकमत वाला है खबरदार है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है सब उसको मालूम है और वो मेहरबान है बख्शने वाला है और काफिर कहते हैं कि क्यामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी कह दो क्यों नहीं आएगी मेरे परवरदिगार की कसम वो तुम पर जरूर आकर रहेगी वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं ना आसमानों में और ना जमीन में और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है काबिल तारीफ है और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है यानी आसमान और जमीन अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बर्तरी बख्शी थी और कहा था ए पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो और परिंदों को उनका मुसखर कर दिया और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा जिरह बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूं और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था उसकी सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगे जो एक ही जगह रखी रहें ए आले दाऊद शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके आशा को खाता रहा फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते अहले सभा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी यानी दो बाघ एक दाहनी तरफ और एक बाई तरफ कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिस्क खाओ और उसका शुक्र करो यहां तुम्हारे रहने को यह पाकिजा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाओ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुतसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद का अंदाजा मुकर्र कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो तो उन्होंने दुआ की कि अः परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े और उसका उन पर कुछ जोर न था मगर हमारा मकसूद ये था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुमताज कर दें और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा मबूत ख्याल करते हो उनको बुलाओ वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है और न उनमें उनकी शिरकत है और न उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है और अल्लाह के यहां किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे यहां तक कि जब उनके दिलों से इसतराब दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वो आली रुतबा है ग्रामी कद्र है पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है कहो कि अल्लाह और हम या तुम या तो सीधे रस्ते पर हैं या खुल्लम खुल्ला गुमराही में कह दो कि ना हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश होगी और न तुम्हारे अमाल की हमसे पुरसिश होगी कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा और वो खूब फैसला करने वाला है साहेब इल्म है कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है कोई नहीं बल्कि वही अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये क्यामत का वादा कब पूरा होगा कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम न तो इस कुरान को मानेंगे और न उन किताबों को जो इससे पहले की है और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था नहीं बल्कि तुम ही गुनाहगार थे और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफर करें और उसका शरीक बनाएं और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने यह जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के और यह भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको आजाब नहीं होगा कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें हां हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन चैन से बुलंद बाला इमारतों में रहेंगे जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार आजाद किए जाएंगे कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे वो कहेंगे तू पाक है तू ही हमारा दोस्त है ना कि ये बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हों और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे फिर उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया सो मेरा अजाब कैसा हुआ कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है बेशक वो सुनने वाला है नजदीक है और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे और इनमें और इनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया गया जैसा कि पहले इनके हम जिनसों से किया गया वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार पर हैं वो अपनी मखलूकत में जो चाहता है बढ़ाता है बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है अल्लाह जो लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं और वो गालिब है हिकमत वाला है लोगो अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राजिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क दे उसके सिवा कोई मबूद नहीं बस तुम कैसे उल्टाए जाते हो और ए पैगंबर अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे और न बड़ा फरेबी यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से फरेब दे शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम भी उसे दुश्मन ही समझो वो अपने पैरों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हो जाए जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है भला जिस शख्स को उसके आमाल बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे तो क्या वो नेकुकार आदमी जैसा हो सकता है बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है तो इन लोगों पर अफसोस कर करके तुम्हारा दम ना निकल जाए ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे वाकिफ है और अल्लाह ही तो है जो हवाएं चलाता है फिर वो बादल को उभारती हैं फिर हम उनको एक बेजान इलाके की तरफ ले जाते हैं फिर उससे यानी बारिश से जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देते हैं इसी तरह मुर्दों का जी उठना होगा जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है उसी की तरफ पाकिजा कलिमा चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है और जो लोग बुरे बुरे दाव चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका दाव नाबूद हो जाएगा और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया और कोई औरत न हामिला होती है और न जनती है मगर यह सब कुछ उसके इल्म से होता है और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है बेशक यह अल्लाह को आसान है और दोनों दरिया भी यकसा नहीं है ये एक तो मीठा है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार है और ये दूसरा खारी है कड़वा और हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं ताकि तुम उसके फजल से मुआज तलाश करो और ताकि शुक्र करो वही रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है हर एक एक वक्त मुकर्र तक चल रहा है यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है उसी की बादशाही है और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सकें और कयामत के रोज तुम्हारे शिरक से इनकार कर देंगे और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा लोगों तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही तो बेनियाज है लायक हमदो सना है अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने के लिए किसी को बुलाए तो बटाया ना जाएगा चे कराबतदार ही हो ए पैगंबर तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और जो शख्स संवरता है तो वो अपने ही लिए संवरता है और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं और न अंधेरे और न रोशनी और न साया और न धूप और न जिंदा और न मुर्दा लोग बराबर हो सकते हैं अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई खबरदार करने वाला न गुजरा हो और ए नबी अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो जो लोग इनसे पहले थे वो भी तकजीब कर चुके हैं उनके पास उनके पैगंबर निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें ले लेकर आते रहे फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा हुआ क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मे बरसाया फिर हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग की घाटियां होती हैं जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं और बाज काली सियाह भी होती हैं और इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी कई तरह के रंग होते हैं अल्लाह से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहेब इल्म है बेशक अल्लाह गालिब है बख्शने वाला है जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं वो उस तिजारत के फायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी क्योंकि अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देगा वो तो बख्शने वाला है कदरदान है और ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है बेशक अल्लाह अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगुजीदा किया तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ मियाना रो हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं यही बड़ा फजल है उन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंजो गम दूर किया बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है कदरदान है जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा यहां न तो हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न तकान ही होगी और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए दोजख की आग है न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं और न दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा हम हर एक नाशुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं वो उसमें चिल्लाएंगे कि ए परवरदिगार हमको निकाल ले अब हम नेक अमल किया करेंगे न कि वो जो पहले करते थे क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था तो आप मजे चखो जालिमों का कोई मददगार नहीं बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहले लोगों का जानशी बनाया अब जिसने कुफर किया उसके कुफ्र का जरर उसी को है और काफिरों के लिए उनके कुफर से परवरदिगार के यहां नाखुशी ही बढ़ती है और काफिरों को उनका कुफर नुकसान में इजाफा ही करता है भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या क्या आसमानों में उनकी शिरकत है या हमने उनको कोई किताब दी है जिसकी वो सनद रखते हो इनमें से कोई बात भी नहीं बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वादा देते हैं महज फरेब है अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से टल ना जाएं और अगर वो टलने लगें तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके बेशक वो बुरदबार है बख्शने वाला है और ये अल्लाह की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई खबरदार करने वाला आए तो ये हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हूं मगर जब इनके पास खबरदार करने वाला आया तो उससे इनको नफरत ही बढ़ी यानी इन्होंने मुल्क में गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया और बुरी चाल का बबाल उसके चलने वाले ही पर पड़ता है ये तो पहले लोगों की रविश के सिवा और किसी चीज के मुंतजर नहीं सो तुम अल्लाह की आदत में हर गिस तब्दीली न पाओगे और ना अल्लाह के तरीके में कोई तगैर देखोगे क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ हालांकि वो इनसे कुत में बहुत ज्यादा थे और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों और जमीन में कोई चीज उसको आजिज कर सके वो इल्म वाला है कुदरत वाला है और अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक भी चलने फिरने वाले को न छोड़ता लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्र तक मोहलत दिए जाता है सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है यासीन कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुम पैगंबरों में से हो सीधे रस्ते पर हो यह कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है सो वो ईमान नहीं लाएंगे हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते और तुम इनको खबरदार करो या ना करो इनके लिए बराबर है ये ईमान नहीं लाएंगे तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया फिर हमने तीसरे से तकवीत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की तुम महज झूठ बोलते हो उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला आजाब पहुंचेगा उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई नहीं बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावज कर गए हो और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया कहने लगा कि ऐ मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रस्ते पर हैं और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं सो मेरी बात सुन रखो हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी सो वो उससे नागहा बुझ कर रह गए